धाये विषय विदिश गगन मई छाए पावक सरसाने रघुवीरा जन्मऊ जरे निशाचर तीरा जान तीव्र सत्य किसे आई बाल संग प्रभु फेरी चलाई कोटिन चक्रत शूल पमारे बिनु प्रयास प्रभु काटिन मारे निफल हो रावण सर कैसे फल के सकल मनोरथ जैसे सब सतपान सारथी मारसी परे घूम गए राम पुकार से कृपा कर सूत उठावा सब प्रभु परम क्रोध कौ पावा भय क्रोध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कसम से दंड दुनियति चंड ตนେ মানন যাহা সর্বมารุทৃদ্রসে মানো জনুনি এত রবে মানো জনুনি মন্ডো দরি ওরে কম্প কম্পতি கமদ ভূভূ ধর ত্রসে মানো জনুনি ওরে কম্প কম্পতি கமদ ভূভূ ধর ত্রসেই করেندی গজ দসন গহিমহি দেখি কৌতুকsure হসে छाप श्रवण लगी छाणे विषक करार राम मार गन गन चले लाला लालात जनुगाल और एक और भगवान राम है दूसरी का ब्राह्मण है अब इनका दोनों का द्वंद युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है भगवान ने रावण के अपना अहंकार दिखाने पर उसको नीति के वचन को सुनाए रावण ने उसका सुनकर के प्रतिवाद किया और कुछ कट वचन कहे और उसने पहला आक्रमण रावण ने ही भगवान पर कर दिया कहा दुर्वचन क्रोध दशकंधर रावण ने जो है कुछ भगवान राम को दुर्वचन कहे और कुल से समान लाग छान सर और वज्र के समान बाण छोड़ने लगा युद्ध की एक नीति ये भी रही कि जो धर्म के पक्ष में है नीति के पक्ष में न्याय के हैं वो पहले आक्रमण नहीं करते जो अन्याय के पक्ष में है वही पहले आक्रमण करता है जो पहले आक्रमण करे वो अन्याय है अनिति लेकिन भौतिक संसार में लोगों में इस प्रकार का प्रसिद्ध है कि अगर अपनी विजय चाहते हैं तो पहले आक्रमण कर दो और मारो भाग जाओ लेकिन ये सब जो है ये है नीति के विरुद्ध है माने दुर्बल लोगों का ये लक्षण है कमजोर लोग ऐसे करते हैं या धर्मविहीन जो लोग हैं वो इस प्रकार से करते हैं <coughs> धर्म के युद्ध करने वाले व्यक्ति युद्ध छोड़ करके भागते नहीं पहले जब दूसरा आक्रमण करेगा तभी आक्रमण करेंगे पहले आक्रमण नहीं करेंगे इस प्रकार से नियम है करके बीच बीच में उस नियम को भी तुलसीदास जी जो है वो हो रखते हैं ध्यान रखते हैं और वैसे ही वर्णन करते जाते हैं तो कहते रावण ने पहले दुर्वचन कहे भगवान राम को और उसी ने फिर बाढ़ छोड़ना भी शुरू कर दिए वज्र के समान उसने बाढ़ छोड़े नाना आकार से भी मुखधाए नाना आकार मान बाण तरह तरह के होते हैं वो सब तरह तरह के बाण उसने छोड़े श्री मुख मन बाण नाना प्रकार के बाण राम ने छोड़ना शुरू किए दिश और विदुष गगन मई छाए इतने बाण छोड़े कि चारों तरफ छा गए दिशा दिशाओं में सब जगह बाण ही बाण दिखाई देने लगे राम के <coughs> राम बाण जब इस प्रकार के हुए तो पार्वत सर छाणे रघुवीरा तो भगवान ने फिर अग्नि अस्त्र छोड़ा जिसके बाण छोड़ने से अग्नि निकली और क्षण जरे निशाचर तीरा रावण के जितने बाण थे वो क्षण मात्र में अग्नियास्त्र की ज्वाला में जल गए अब ये तो युद्ध का भौतिक युद्ध का वर्णन है ही है जैसे बार बार देख रहे हैं लेकिन अपने मन में भी देखते रहे इस प्रकार से रावण के माने मोह भगवान राम के माने ज्ञान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान राम पर ब्रह्म परमात्मा अज्ञान तमिश्रा <clears throat> भय चिंता दुख आदि उनका रूप धारण किए हुए अहंकार रूप रावण तो अब ये <clears throat> दोनों के बीच में इस प्रकार की युद्ध है उसमें <clears throat> रावण जो है आक्रमण करता है रावण आक्रमण करता है कि मैंने रावण जो है निशाचरी वृत्ति का व्यक्ति है तो वही पहले आक्रमण कर देता है हम्म। लेकिन भगवान राम जो है उसके जो है उस आक्रमण को रोकने के लिए क्या करते हैं कहते हैं कि पावक सर छाड़े रघुवीरा भगवान ने भी एक बार छोड़ दिया अग्नियास और उसमें उसके सब कट गए बाण माने इसके माने परमात्मा सर्वशक्तिमान है और उसका ज्ञान की शक्ति ज्ञान आदि में सभी कर्म भस्म हो जाते हैं एक बात आगे चले देखेंगे कि राम रावण युद्ध हो रहा है तो रावण बहुत देर युद्ध करता है और रावण मरने के पहले उसके सभी कर्मों का विनाश होना है उसका सबका भोग भोग ले इसलिए युद्ध बहुत देर होता है तो रावण की जो है इस प्रकार से बाण छोड़ता है भगवान राम जो है मानो उसकी धीरे धीरे करके अविद्या को कर्म को नष्ट कर दे जाते हैं आदमी सर्वकर्माणी भस्म सात करते तथा रावण के बाण मानो कर्म के बाण है जो कि अज्ञान की अवस्था में किए जाते हैं और भगवान राम सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप है जो समस्त कर्मों का छेदन कर देते हैं नष्ट कर देते हैं जला देते हैं तो छाण से तीव्र शक्ति आई तो कहते हैं कि तो उसने खिसिया करके रावण ने तीव्र शक्ति छोड़ी तीव्र शक्ति में बड़ी कठिन शक्ति जो है उसने जो कि शक्तिशाली भी थी तेजोमयी भी थी और अवश्य ही लगने वाली थी इस प्रकार छोड़ी जाए तो किसी को शत्रु को छोड़ती नहीं थी ऐसी शक्ति उसने रावण ने छोड़ी लेकिन बाण संग पर फेरी चलाई लेकिन जब वो शक्ति को आते देखा तो भगवान राम ने ऐसा बाण मारा कि शक्ति की जो आ थी वो मारे जैसे भाला जैसे चला रहा हो मनुशक्ति तो उसमें बाढ़ लगा तो उसका मुंह फिर गया और उसका वेग जो है इधर की तरफ का बजाय तो लौट गया पीछे की तरफ वो चली गई तो इस प्रकार से उसकी दिशा बदल दी भगवान ने बाढ़ मार करके तो कोटि ने चक्र तसूल पमारे रावण उसके बाद में भी कहीं तसूल फेंकता है कहीं चक्र फेंकता है कहीं कुछ फेंकता तमाम प्रकार के अस्त्र उसके हैं वो सब चलाता है बिन प्रयास प्रभु काट पमारे लेकिन भगवान जो है बिना प्रयास के ही उन सब अस्त्रों को काट देते हैं सब निष्फल होते चले जाते हैं निफल हो रावण सर कैसे अब देखो ये सब वर्णन करते हैं तो सीधा सीधा क्यों करते हैं मैंने सीखो उसमें से कुछ बात क्या सीखा कि निफल हो रावण सर कैसे रावण के सारे बाण निष्फल जाते हैं भगवान के ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता मैंने ऐसा नहीं कि भगवान के पास का काम है उनके शरीर में लगे घायल करें मारे ये कुछ नहीं कर पाते हैं वो रह जाते हैं वही खल के सकल मरोरथ जैसे ये ऐसे बाण आ रहे जैसे खल दुष्ट व्यक्ति के मनोरथ दुष्ट व्यक्ति नाना प्रकार के मनोरथ करता रहता है लेकिन उसकी दुष्टता और दुर्गुणों के कारण से वो मनोरथ पूरे नहीं हो पाते होते होते उसे दिखाई देता पूरे हो जाता पूरे हो जाते हैं जब तक पूरे होते होते हैं तब तक अन्याय के द्वारा किए गए मनोरथ की पूर्ति वे मनोरथ या उसके उपलब्धियां जो है वही व्यक्ति का विनाश कर देती है ये मुख्य बात जो है है प्रारंभिक बात है अध्यात्म विद्या की पहली बात शिक्षा यही है कि जो व्यक्ति अनैतिक आचरण करता है अधर्म में आचरण करता है दुराचार भ्रष्टाचार जो अशुभ कर्मों में प्रवृत्त होता है उसके द्वारा वो उसको लगता है कि हमारी सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी मैं जो चाहूंगा सो कर लूंगा ऐसा करता हुआ दिखाई देता है दिखाई भी देता है कि उसके मनोरथ पूरे हो रहे हैं हो रहे हैं हो रहे हैं लेकिन अंत में वो साथ समाप्त हो जाते हैं वो सारी संपत्ति जो उसने इकट्ठी की होती सब नष्ट हो जाती है और उसकी भी दुर्दशा होती है उसके सारे मनोरथ समाप्त हो जाते हैं तो कहते हैं खल के सकल बनोरथ जैसे तब सतबान सारथी मारसी कहते इसके बाद सारथी ने तो उनको रावण ने फिर क्या किया तब भगवान राम का जो सारथी था मातिल उसको रावण ने मारा सत बाण सारथी मारे सौ बाण उसने मार दिए सारथी की मातिल तो परे भूम जय राम पुकारे से मातिल जो वो बाणों से घायल होकर के भूम पर गिर पड़ा और गिरते गिरते हाय राम हाय राम करके चिल्लाने लगा हाँ? तो भगवान राम का सारथी इस प्रकार से गिर जाए तो भगवान ने उसकी भी रक्षा की बचाया उसे मातिल को उन्होंने क्या किया राम कृपा कर सूत उठावा भगवान ने उसको उठा करके जमीन पर गिरे हुए मातिल को उठा करके सरत पर बैठा था और जहां भगवान ने उसको स्पर्श किया तो लगे लगाए सारे बाण और सारे घाव सब ठीक हो गए बिल्कुल स्वस्थ हो गया बस <coughs> और फिर वो रथ अपने चलाने लगा तब कहते हैं तब प्रभु परम क्रोध कहूँ धावा तब कहते हैं आप जो है वो हो फिर भगवान राम जो है वो हो <coughs> उससे फिर युद्ध करने लगे और <coughs> प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा मैंने भगवान को क्रोध आया था देखो मातल को मार दिया हमारे और मार करके भगवान जो है वो हो ज्यादा क्रुद्ध होकर के फिर रावण से युद्ध करने लगे अब इसमें ये भी देखते हैं कि ये सारथी को जहाँ कहीं उदाहरण दिया गया है वहाँ बुद्धि मानी गई है बुद्धि सारथी है और भगवान जो है आत्मा है परमात्मा जो रथी है सारथी यदि बुद्धि यदि रथी के अधीन है और उसी में समर्पित है तो बुद्धि ठीक ठिकाने बनी रहती है यदि बुद्धि परमात्मा को भूल जाए तो विपथगामी हो जाती है और गिर जाती है बुद्धि के ऊपर जैसे कि मानव की अज्ञान अविद्या विकार काम क्रोध आदि उनका आक्रमण होता रहता है उससे बुद्धि को बचाने का उपाय यही है कि वो बुद्धि परमात्मा में समर्पित रहे परमात्मा का स्मरण करता रहे परमात्मा का प्रकाश बुद्धि में छाया रहे तो तो बुद्धि बची रहेगी नहीं तो मातम की तरह से गिर जाएगी और के गिरते गिरते माता ने आराम पुकारा भगवान के फिर स्मरण किया तो भगवान ने उसे उठा लिया फिर <clears throat> ये नियम इस प्रकार चलता रहता है तो कहते हैं फिर भगवान ने रावण से युद्ध करना क्रुद्ध होकर के मैंने ज्यादा उत्साह के साथ में युद्ध प्रारंभ कर दिया भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपत युद्ध में रावण के विरुद्ध बड़े क्रुद्ध होकर के उन्होंने युद्ध शुरू किया द्रोण साय कसम से अब ऐसा लगा कि जैसे कि उनकी तरकस के जो बाण जो है कसमसाने लगे तो में बाहर निकलने के लिए जल्दी जल्दी बाहर निकलने के लिए वो व्याकुल होने लगे कि मैंने जल्दी बाहर निकले और जल्दी रावण के लगे इसलिए अब एक बात भी ध्यान रखें कि बावों को क्या थी कि वो अपने कश्मशाने में निकलने की कोशिश करने लगे तो मन इस तरह से थोड़ा संकेत करते रहते हैं स्मरण दिलाते रहते हैं तुलसीदास जी यह ध्यान रखें कि भगवान राम तो परब्रह्म परमात्मा है ही है चिन्मय स्वरूप है उनका लेकिन उनका धनुष भी चिन्ह है उनके बाण भी चिन्ह है उनका तरकस भी चिन्ह है उनकी माला भी उनकी <clears throat> उनके वस्त्राद भी पीताम्बराद भी सब जो है उनका चिन्ह वही परमात्म तत्व का है एक ही मेटीरियल सब बना हुआ उसी से वही परमात्म तत्व सच्चिदानंद है उसी के बने हुए उनके सबके अंग प्रत्यंग वस्त्र आदि आभूषण अस्त्र शस्त्र मुकुट आदि सब उसी से निर्मित है इसलिए तर्कस भी चेतन है हम्म, वो भी उत्साहित होकर के भगवान जब क्रुद्ध हुए चाहते हैं कि रावण के ऊपर आक्रमण करें तो बाण भी जो वो उन्हीं के भगवान के मनोभाव के साथ में सक्रिय हो जाते हैं कार्य करने लगे तो कोदंड धुनति चंड सुनी भगवान राम ने धनुष को टंकार किए तो भगवान धनुष की आवाज बड़ी जोरों की आवाज हुई धनुष में मनुजात सब मारुत ग्रसे और जितने मनुजात बने निशाचर मनुज अग्रवर खाना जो मनुष्यों को खा जाते हैं उनको कहते हैं मनुजात मनुष्य बने मनुष्य जानते ही अंत के माने खाना जिनका कि भोजन मनुष्य ही है उनको मनजात कहते हैं मनुष्य भोजन किसके हैं यही अहंकार के भोजन है काम क्रोधादि के भोजन है काम क्रोधादि क्या खाते हैं यही सब मनुष्यों को खाते रहते हैं और उन्हीं को पीड़ा पहुंचाते रहते हैं जैसे किसी को <clears throat> काट लो तो उसको पीड़ा होगी खा जाओ उसको तो उसको पीड़ा होगी ऐसी काम को आज जब मनुष्य को खाते हैं तो आदमी कराता है चिल्लाता है हाय हाय करता है बिलबिलाता है हाँ। तो ऐसे करके ये निशाचर जो है वो खाते रहते हैं मनुष्यों को तो इसलिए इनको मनजात कहते हैं तो कहते हैं कि ये मनजात सब मारुत ग्रसे ये सब मारुत ग्रसे कि मैंने इनको जैसे भूत प्रेत चढ़ आया हूँ ये सबके सब जो है वो व्याकुल होते सबके सब ये और मंदोदरी और कंब अभी प्रभाव दिखाते हैं भगवान का युद्ध होने जा रहा है तो किस प्रकार से उनका प्रभाव पड़ता है मंदोदरी और कंप मंदोदरी के हृदय कांपने लगा उस आवाज को धनुष की आवाज को सुन करके कंपति कमठ कमठ के मैं जिसके ऊपर पृथ्वी रखी हुई वो कछुआ काटने लगा और भू भूधर से पृथ्वी और पर्वत ये सब डोलने लगे <clears throat> ये सब इतना भगवान के युद्ध करने के लिए जब उद्यत हुए तो उनके प्रभाव से सब हकंप मच गया चिक्कर ही दिग्गज दसन गई <clears throat> चिक्कर ही दिग्गज दिग्गज में दिशाओं के हाथी चिंगारने लगे <clears throat> दसन गही मही और वो अपनी दांतों से पृथ्वी को पकड़ करके रोकने की कोशिश करने लगे कि ऐसा न हो कि पृथ्वी गिर जाए देख कौतुक सुर हंसे जब दुनिया भर में ये तमाशा हुआ सब हला डोला मच गया सब भयभीत हो गए तो देवता लोग हंसे हंसे मैंने देवता लोग प्रसन्न हुए और कहा कि अब देखो अभी तक तो रावण समझता था कि हम ही सब कुछ है अब उसको ठीक ठिकाने मिला अब इसका संहार होगा मरेगा तो अब देवता लोग हैं प्रसन्न हुए उनको देख कर कान चाप श्रमण लगी तब भगवान ने जो है कान तक खींचा धन उसको और छाड़े विशिख कराल और भयंकर उन्होंने बाढ़ छोड़ने लगे विशिक मन बाढ़ कराल बाढ़ छोड़ना शुरू कर दिए अब देखो पहले भगवान श्री राम जी को जब माटी के मरने पर गिरने पर क्रोध आया और जब क्रोध आया तो उन्होंने अपने धनुष बाण को चंकार की उसकी आवाज जोड़ की कि उसका प्रभाव बताया अब प्रभाव छोड़ते हैं तो ताने और चाप सुवर्ण लगी धनुष को काम तक खींचा मैंने बहुत जोर से खींच करके शक्तिशाली बांध छोड़े राम मार जन जन चले लाल हाथ जन ब्याल और भगवान के बाण जो है ऐसे लहराते हुए चले जैसे जी काल डाल चले जा रहे हो सर्प की तरह से फड़फड़ाते हुए बाण भगवान के धनुष से निकले मार्गन के माने भी बाण है मार्गण शब्द जो है वो <clears throat> मार्गण के माने दो अर्थ है एक मार्गण के माने खोजना है और एक मार्गण के माने है बाण तथा पदम तथा परिमार्गतव्यम यस्मिन गता निवर्तन भूया उसके बाद व्यक्ति को चाहिए भगवान कहते हैं कि उसको उस रास्ते को खोजना चाहिए उस परम पद को खोजना चाहिए जिससे कि लौट करके नहीं आते तो खोजने के लिए कहा मार्गण रमण महर्षि भी कहते हैं है? हाँ, कि मन या अहंकार इसको खोजो हम्म, तो खोजने पर मार्गणे करते जहां मार्गण किया खोजा उसको तो अहंकार नहीं मिलता मन नहीं मिलता ये जब तक उसको न खोजो न उसकी तरफ ध्यान दो तब तक वो बड़ा प्रचंड है बड़ा परेशान करने वाला है तो मार्गण शब्द का प्रयोग करते हैं मार्गण खोजना तो वो बाण भी अनेक प्रकार के हैं उनमें से एक प्रकार का बाण वो है जो कि छोड़ा जाता है तो शत्रु को खोज करके मारता है कांजे छिपाओ दीवार के पीछे छिपाओ पेड़ के पीछे छिपाओ जमीन के गुफा के भीतर छिपाओ तो बाण से थोड़ी छोड़ देगा उसको वो ढूंढते ढूंढते रास्ता निकाल लेगा पहुंच करके उसको बेच देगा ऐसे बाण को कहते हैं मारगण तो कहते हैं राम मार गण गण चले तो भगवान के बाण इस प्रकार से सतराते हुए चले लहलात जन ब्याल जैसे सर्प जो है वो लहराता हुआ चलता है इस प्रकार से बाण चले रावण की तरफ अब उसका क्या प्रभाव होता है बाणों का लगता है रावण के ऊपर तो क्या है चले बाण सपक्ष जनूरगा प्रथमय हत्यो सारथी दुर्गा रथ विभंज हत केतु पताका जाति अंतर बल थाका तुरत चढ़ से आना शस्त्र छाण से विधि नाना विफल हो ये सब ताके जिम पर द्रोह निरत मन साके तब ब्राह्मण दस धूल तनावा पांच चार महिमारी गिरावा उठाए को फिर गुनायक कैंच सरासन छाणे सायक रावण सिर सरोज संचारी चल रघुवीर सिली मुखधारी दस दस बान भाल दस मारे गए चल रुधिर पनारे प्रवतुर्भिधाय बलवाना सब पुनिकृत धनु सर संधाना तीस तीर रघुवीर पवारे भुजन समेत सीत मही पारे काट कहीं पुनि भय नवीने राम बहो विभुजा सिर छीने कर बहु बार पाओ सिर है झटत झटत पुन नूतन भय पुनि पुनि प्रभु का भुज सीता नाथ कौतकी कौशलाधीशा रहे छाय नव सिरे अरुबाहु मानव अमित केतु अरुराहु जन राहु के नव पथ सर्वत सोनित धावही रघुवीर तीर प्रचंड लागई भूमि गिरन न पावई एक एक सर सिर निकर छेदे न रौड़त सोहई भजन को दिन कर कर निकर जहाँ तहाँ बितुन दुध पोहई जिम जिम प्रभु हर सासु सिर तिम तिम हो ही अपार सेवत विषय विवर्त जिम नित नित नूतन मार कह रहे थे भगवान के पार कैसे चले जैसे सर्प चले उरग में सर्प उर्क मैंने छाती दामन चलने वाला जो छाती के बल दौड़े हाँ, उसका नाम था वैसे हाँ। तो जो वो वो सांप जो वो ऐसे अर्थ कैसे लगाना पड़ता है ऐसे खोजो तो पता लगे उड़क सांप हाँ। तो वो जो है सांप जो हो सांप की तरह से खनखनाते हुए बाढ़ चले सर और सपस्वन मैंने पंखे लग जमे आए हैं कोई कोई बहुत पुराने सांप होते हैं उनके पंखे भी जमे आते हैं और कसमई हते उसारती तो वो बाण चले तो पहले सबसे पहले क्या हुआ कि सारथी को बाण मार दिया और घोड़ों को मार दिया घोड़े सारथे मार रथ विभंज रथ जो वो भी विभंज में तोड़ दिया और हथ केतु का और तेज पताका भी काट के गिरा दिया और हाँ। रावण ने जो तो कार्ती को मातिल को मारा गिर गया था तो भगवान उठा करके फिर था इतना उनका भी हुआ लेकिन उसके बदले में क्या हुआ कि राम ने रथ तोड़ दिया उसका झंडा पताका सब गिरा दिए काट के और उसका जो है वो घोड़े और सारथी उनको भी मार दिया अब अकेला रावण रह गया अब रावण क्या करता रावण के पास रथों की कमी थोड़ा है तो रखा जाता है उसको गर्जा हसी था थाका जब रावण ने देखा तो बड़ी गर्जना उसने की लेकिन अंतर्बल था और उसने देखा कि रास्ते रास्ते घोड़े वोड़े सब मार दिए इन्होंने तो इसके माने उसको भीतर से कमजोर होने लगा निराशा उसके भीतर आने लगी ऐसे धीरे धीरे करके जब पराजय किसी होने होती तो इसी प्रकार से पहले उसका आंतरिक कमजोरी उसके आने लगती धीरे धीरे करके दुर्बलता भीतर से आती है फिर हार जाता है और कृत आन रथ चले किसी आन मन दूसरा दूसरा बताया और उसके ऊपर फिर वो उस रथ के ऊपर चढ़ गया और खिसियाना मान जैसे जब कोई हार जाता तो खिसियाता है और फिर वो अपनी ताकत लगाता है खिसिया करके खुद धो करके बड़ी ताकत लगाता है तो उसने भी लगाई अस्त्र शस्त्र छाड़े से विदिन आना और रामा तरह से अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगा भगवान राम के ऊपर ऐसे होता है तो विफल हो सब का के राम सब उपाय करता है समस्त शस्त्र चलाता है लेकिन उसके सारी कोशिशें हाँ, विफल हो रही भगवान के ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उनको ना उनके ऊपर बाण लगते हैं और ना उनका घायल होते हैं वो सुरक्षित अपने हैं लेकिन रावण जो धीरे धीरे करके इस प्रकार से हतोत्साहित होता जाता है और देखते हैं उसके सारे प्रयास व्यस्त जा रहे हैं अब कहते हैं कैसे जाते हैं कि जिम पर द्रोह निरत मनसा के जैसे कोई व्यक्ति दूसरे से जब द्रोह करता है तो द्रोह के कारण उसकी समस्त उसकी मनसामन कामनाएं उसकी सामने कामनाएं जो वो नष्ट भ्रष्ट हो जाती पूर्ति नहीं होती माने कामनाओं की पूर्ति व्यक्ति की तब है जब अन्य लोग भी प्रसन्न रहे तब है जब दूसरों से बैर करेगा लड़ाई झगड़ा करेगा तो फिर उसकी जो है वो कामनाएं पूर्ति नहीं होती पर परद्रोह निरत मनसा है उसकी कामनाएं नहीं पूरी और उसके सारे उद्यम बेकार करेगा जाते तो देखो ये सब नीति की बातें हैं और धर्म की बातें हैं ये सब शास्त्र में इसी प्रकार से अब इनका बहुत विस्तार नहीं करते हैं यहाँ उदाहरण के रूप में आई वहां चलिए जैसे पहले कर दिया खल के सकल मनोरथ जैसे दुष्ट व्यक्ति के मनोरथ पूरे नहीं होते इसी प्रकार से कहते हैं कि जो पर्दो दुष्ट के माने जो दूसरे से द्रोह रखने वाला हो द्रोही जो है वो दुष्ट व्यक्ति है हर किसी से उसका शत्रुता है कोई उसे आदमी अच्छा नहीं लगता सब खराब दिखाई देते हैं और सब अपने दुश्मन दिखाई देते हैं सब दिखाई देता है कि हर कोई हमारा दुश्मन है हर कोई हमसे लड़ने को तैयार है ऐसे करके वो सबको शत्रु भाव से देखता है और सबसे झगड़ा शिकार करता रहता है ऐसे व्यक्ति के का जो है न तो उसके मनोरथ पूरे होते हैं न उसका उद्यम किया हुआ प्रयास सफल होता है मैंने इसके पीछे कहने का तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति को किसी से बैर नहीं रखना चाहिए भूलकर उनको बुराइयां देखना झगड़ा करना लड़ाई करना मन में उनके प्रति जो है ईर्षा द्वेष रखना ये सब व्यक्ति को कमजोर बनाने वाले हैं जिसके मन में ये भाव उत्पन्न होंगे उसका मन ही स्वयं व्यसित होकर के खंडित विखंडित होकर के दुर्बल होकर के रह जाएगा और उसको कार्य करने की सामर्थ्य उसमें नहीं होगी ये बात बहुत कम लोग देख पाते हालांकि ये सब बातें प्रारंभिक बातें हैं फिर उसके बाद कहाँ योग और कहाँ फिर वो हो वैराग फिर कहाँ परमात्मा की बातें तो बहुत आगे की बातें हैं प्रारंभ में यदि कोई व्यक्ति ये नहीं देख पाता कि हमारे मानसिक विकार क्या है और वो विकार हमको ही कैसे पीड़ित कर रहे हैं और हमको ही दुर्बल कैसे बना रहे हैं यदि ये व्यक्ति नहीं समझ पाया तो फिर समझो कि अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं कर पाया आगे सफलता की तो बातें क्या अपने आप अपने भीतर देखे अब कोई भी शास्त्र को तो संकेत करते हैं कि देखो ऐसा होता है अब जो कुछ होता है तो शास्त्र बताते हैं व्यक्ति को अपने आप अपने भीतर देखना वो देखे अपने भीतर देखे कि मन क्रोध आता है तो क्या होता है हम्म? अपने भीतर हृदय में जलन पैदा होती कि नहीं होती पीड़ा होती कि नहीं होती और कोई नहीं होती है बड़ी प्रसन्नता होती है क्रोध की अवस्था में हम बहुत प्रसन्न होते हैं बड़े गदगद होते हैं आनंदित होते हैं तो उसके कारण दुनिया मूर्ख भी नहीं कोई फिर वो क्या करेगा इसलिए ये ये तो प्रारंभिक बात है ईर्षा देश क्या होता है जिससे ईर्षा करोगे देश करोगे बैर करोगे उसका चाहे बिगड़े बनने चाहे बिगड़े कुछ भी हो लेकिन जिसके के मन में इस प्रकार के विकार उत्पन्न होंगे उसका मन विकृत होकर के दूषित हो जाएगा और कोई भी वो चाहे भौतिक उपलब्धियों के लिए कार्य कर रहा हो चाहे आध्यात्मिक कर रहा हो उसके मन बुद्धि ठीक ठिकाने कार्य नहीं करेंगे भुला जाएगा विचार करने की क्षमता नहीं होगी दूरदर्शता समाप्त हो जाएगी भूतकाल के जो अनुभव है उसको काम नहीं देंगे भविष्य काल के लिए वो सही सही अनुमान नहीं लगा सकेगा और जो कुछ भी कार्य करेगा उसमें सफलता नहीं मिलेगी ये जीवन की सफलता के राहत है ये सब अध्यात्म विद्या तो ही अब व्यवहारिक नहीं है व्यवहार की अवस्था में भी व्यक्ति जीवन काल में कैसे सफलता प्राप्त हो सकती है उसके लिए सब बातें ये है सब सिद्धांत उसी के लिए है इसलिए कहते हैं कि वो जिम पर हो निरत मन के ऐसे विफल हो सब उद्यमता के रावण के इस प्रकार सारे उद्यम प्रयास जो कर रहा है अस्त्र छोड़ता है सब उसके विकास चले जाते हैं तब रावण दस मूल दस सूल चलावा तो उसके बाद रावण ने दस सूल चलाए और सूल भी एक प्रकार का अस्त्र फेंक करके मारा जाता है तो दस फेंके अब रावण के दाहिने दस हाथ है और दसों हाथ में एक एक सूट उठा करके दस सौ सूट फेंक दिए उसने तो कहाँ लगे जा करके बाद